यहूदियों में कहावत है कि शैतान एक बूढ़ा और मूर्ख सम्राट है एक यहूदी फकीर हुआ झुसिया वो बड़ा चिंतित था कि ये समझ में नहीं आता ये कहावत समझ में नहीं आती बूढ़ा समझ में आता है क्योंकि आदमी से पुराना शैतान है आदमी ही थी तब भी शैतान था आदम को भड़काया तो बूढ़ा तो समझ में आता है सम्राट भी समझ में आता है क्योंकि सारी दुनिया का मालिक वही मालूम पड़ता है लोग भला चर्चों में प्रार्थना करते हो परमात्मा की लेकिन हृदय में प्रार्थना शैतान की करते शैतान की ही चीजों की तो मांग करते हैं परमात्मा से भी तो असली मालिक तो वही है तो सम्राट भी समझ में आता है लेकिन मूर्ख मूढ़ क्यों ये समझ में नहीं आता फिर झुसिया ने कहा कि मुझे सजा हो गई जेल में डाल दिया गया वहां मेरी समझ में रहस्य आ गया जेल में हथकड़ी बंधी है और झुसिया ने देखा कि शैतान पास में बैठा है तो उसने शैतान से कहा अब समझ गए कहावत का अर्थ बूढ़े तो तुम हो ये पहले से हम समझ गए थे क्योंकि आदमी से पुराने हो सम्राट भी तुम हो क्योंकि सारे आदमी तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं और तुम जो दे सकते हो वही मांग रहे हैं ये भी हम समझते थे लेकिन मूर्ख हो ये हम पहली दफे समझे सैतान ने पूछा क्या मतलब तो उसने कहा यहां कारागृह में जहां मेरे हाथ में हथकड़ियां बंधी हैं जहां मैं भला तो कर ही नहीं सकता वहां तुम मेरे पास बैठे क्या कर रहे हो यहां तो कुछ करने का उपाय ही नहीं है कोई दूसरा विकल्प ही नहीं तुम्हारे सिवाय तुम यहां बैठे क्या कर रहे हो यहां तो प्रार्थना भी नहीं कर सकता हूं शुभ का तो कोई उपाय ही नहीं इसलिए समझ गया कि तुम महामूढ़ हो कहावत ठीक है तुम अकारण यहां बैठे हो क्योंकि यहां तो तुम्हारे राज्य में बिल्कुल बंधा हूं इसके बाहर जाने का कोई उपाय ही नहीं है दीवालें बड़ी हैं हाथ में जंजीरें पड़ी हैं जब मैं झुसिया की आत्मकथा पढ़ रहा था तब मुझे लगा कि जंजीरों में तुम्हारे पास तुम जिसे पाओगे वो परमात्मा नहीं हो सकता वो शैतान ही होगा क्योंकि परमात्मा की संभावना ही स्वतंत्रता में है इसलिए तो हम परमात्मा को मोक्ष कहते हैं और हमने ऐसे लोग भी पैदा किए इस मुल्क में जिन्होंने परमात्मा की भी फिक्र नहीं की मोक्ष की ही फिक्र क्योंकि उन्होंने कहा जहां मोक्ष मिल गया परमात्मा मिल ही गया महावीर परमात्मा की बात नहीं करते बुद्ध परमात्मा की बात नहीं करते वो कहते मुक्ति काफी है जिस दिन तुम परम स्वतंत्र हो गए उस दिन परमात्मा मिल ही गया उसकी बात क्या करनी परम स्वतंत्रता में तुम्हारे जो साथ है वो परमात्मा हो जाता है और परम परतंत्रता में तुम्हारे साथ जो रह जाता है वो केवल शैतान है तुम जिसको गुलाम बनाते हो उसको शैतान बनाते हो और तुम जिसके मालिक बनते हो तुम मालिक बनने में भी शैतान बनते हो क्योंकि गुलामी में सिर्फ शैतानी का ही फूल खिल सकता है गुलामी की भूमि में शैतानी के अतिरिक्त और कोई पौधा नहीं पनप सकता मिताचार का अर्थ है नियम को कम करते जाओ ये पहला आयाम और धीरे धीरे हार्दिकता को बढ़ाते जाओ एक ऐसी घड़ी आ जाए कि कोई नियम न रह जाए सिर्फ हृदय ही नियम हो और ध्यान रखना एक को जो साध लेता है अनेक साध जाते हैं और जो अनेक को साधने में लगता है वो एक से भी वंचित रह जाता है वो एक है प्रेम अनेक नियमों को साधने की जरूरत नहीं प्रेम मिताचार है दूसरा आयाम है मिताचार का कि तुम्हारे जीवन में न्यून से राजी होने की क्षमता बढ़नी चाहिए ज्यादा की मांग अंततः विक्षिप्तता लाती है तुम न्यून से राजी होना चाहिए तुम जितने न्यून से राजी हो जाओगे उतने ही तुम विराट होने लगोगे और ये न्यून से राजी होना सभी दिशाओं में लागू है चाहे धन हो चाहे पद हो चाहे यश हो चाहे त्याग हो चाहे व्रत हो न्यून से राजी हो जाना यहां थोड़ी कठिनाई है क्योंकि अगर कोई आदमी धन इकट्ठा करता चला जाता तो हम कहते हैं ये पागल है हमारे सब साधु सन्यासी कहते हैं ये पागल है और और और की मांग किए चला जा रहा है रुको ये दौड़ का कहां अंत होगा हमें भी दिखता है लेकिन त्यागी वो भी और की मांग किए चला जाता है वो हमें नहीं दिखाई पड़ता पिछले साल उसने 20 दिन का उपवास किया था इस साल वो 25 दिन का करने वाला है अगले साल वो 30 दिन का करेगा ये भी और की मांग है 20 लाख रुपए थे 25 लाख रुपए चाहे 20 दिन का उपवास कर सकते थे अब 25 दिन का कर सकते हैं तीस की आकांक्षा है फर्क क्या है अनुपात वही है बीस की जगह पच्चीस चाहिए पच्चीस की जगह तीस चाहिए धन के ही सिक्के लोग इकट्ठे नहीं करते त्याग के भी सिक्के इकट्ठे करते हैं और दौड़ वही की वही जारी रहती तो मिताचार का दूसरा आयाम है कि तुम व्रत त्याग उसमें भी थोड़े से राजी हो जाना आचरण में भी थोड़े से राजी हो जाना आचरण में भी तुमको बहुत बड़ा महात्मा होना चाहिए इस पागलपन में मत पड़ना क्योंकि वो पागलपन तो एक ही जैसा है क्योंकि उसका सूत्र एक ही है और चाहिए और चाहिए और चाहिए जब तक सारी दुनिया तुमको महात्मा न कहे तब तक तुम कैसे राजी हो सकते हो वहां भी तुम थोड़े से राजी हो जाना असल में थोड़े से राजी हो जाना ही महात्मापन है इसलिए तुम महात्मापन की अगर तलाश करते रहे तो मुश्किल में पड़ोगे तब दौड़ वही की वही रहेगी दिशा बदल गई लेकिन दिशा का स्वभाव नहीं बदला गुण वही का वही है तुम त्याग की भी ज्यादा आकांक्षा मत करना जो सुखपूर्वक तुम कर सको जो तुम सहजता से कर सको बस उतने पर राजी हो जाना असहजता की तरफ मत जाना एक साधु मेरे पास आए कहने लगे बहुत अड़चन है एक ही अड़चन उसकी वजह से आया हूं वो अड़चन यह है कि नींद बहुत सताती और शास्त्रों में कहा है कि जो नींद में ज्यादा लिप्त है वो तामसी तो मैंने पूछा कि कितना सोते हो तो उन्होंने कहा कि रात तीन बजे उठता हूं और कोई ग्यारह बजे सोने जाता हूं तो चार ही घंटे सोते हैं और उनका शास्त्र में कहा है कि योगी को दो घंटा काफी मैंने कहा शास्त्र में तो यह भी कहा है कि जब सब सोते हैं तब भी योगी जागता है तुम बड़ी मुश्किल में हो वो कहते हैं दिन भर नींद आती आएगी है तीन बजे उठोगे तो इसमें कसूर किसका है तो वो कहते हैं प्रार्थना भी करता हूं तो झपकी आती आएगी ही ध्यान लगते नहीं क्योंकि ध्यान के पहले नींद लग जाती है नहीं बिल्कुल सीधा साफ इसमें कुछ अड़चन नहीं है शरीर की जरूरत है अति से मत खींचो पागल हो जाओगे और अगर नींद जैसी सरल चीज के प्रति भी अपराध का भाव आ गया तो नींद जैसी सरल चीज इससे ज्यादा सरल और क्या होगा कुछ भी तो नहीं करना सिर्फ सो जाना और नील में कम से कम तुम महात्मा होते हो कुछ उपद्रव नहीं करते कोई की हत्या नहीं करते कोई की चोरी नहीं कोई जेब नहीं काटते इतनी सरल सी चीज से ऐसा क्या विरोध बना रखा है वो थोड़े चौंके उन्होंने कहा क्या आपका मतलब है ज्यादा सोना शुरू करूं तो वो तो तामस हो जाएगा क्या होगा कि नहीं होगा ये मुझे मतलब नहीं जो जरूरत है तो इसका अर्थ हुआ कि तामस की जरूरत है क्योंकि शरीर तामस का हिस्सा है जब तक तुम शरीर में हो तब तक शरीर थकता है थकता है तो विश्राम चाहिए और अगर तामस की जरूरत ही ना होती तो परमात्मा तामस को बनाता ही क्यों दो ही गुणों से काम चला लेता तीन गुण की क्या जरूरत है परमात्मा भी बिना तामस के नहीं बना सकता अस्तित्व को तुम कोशिश में लगे हो परमात्मा से आगे जाने की प्रतिस्पर्धा बड़ी परमात्मा भी सत्व और रज से अस्तित्व को नहीं बना सकता क्योंकि तमस की बड़ी खूबी है उसका अपना रहस्य तमस के बिना कोई चीज थिरी नहीं होती रज में बड़ी गति है लेकिन अकेली गति से थोड़ी संसार बनता है कोई चीज ठहराने वाली चाहिए तुम दौड़ते ही रहोगे दौड़ते ही रहोगे तो मुश्किल में पड़ोगे कहीं तो रुकना पड़ेगा रुकोगे वहीं तमस शुरू होगा तमस तो एक सिद्धांत है लेकिन लोगों ने तमस शब्द का बड़ा अपमानजनक उपयोग शुरू कर दिया तमस का तो इतना ही मतलब है रुकने का सिद्धांत विश्राम का सिद्धांत परमात्मा को भी विश्राम करना पड़ता है इसलिए तो हम कहते हैं कि ब्रह्मा का दिन सृष्टि फिर ब्रह्मा की रात आती तो प्रलय हो जाता है सारा अस्तित्व सिकुड़ के शांत हो जाता है नींद में चला जाता तो अगर हम पूरे अस्तित्व को 12 घंटा मान लें दिन तो फिर 12 घंटा इतनी ही बड़ी रात है जब सब सो जाता है खुद परमात्मा सो जाता है तो तुम परमात्मा से किस लिए होड़ में लगे हो तुम शांति से सो जाओ और तब तुमने क्या अड़चन कर लिया अब तुमसे ध्यान भी नहीं हो सकता ध्यान नहीं हो सकता तो वो समझते क्या है ये मन के गणित बड़े अजीब है वो समझते हैं कि तमस की वजह से ध्यान नहीं लग रहा और कम सो तमस को काटो जितना तमस काटोगे उतनी तमस की जरूरत बढ़ती जाएगी क्योंकि कहीं ना कहीं से जरूरत पूरी होगी इसलिए तुम मंदिरों में जाओ वहां लोगों को तुम झपके लेते पाओगे मुल्ला नसुद्दीन मस्जिद जाता है तो सोने के लिए जो पुरोहित वहां व्याख्यान करता है वो थोड़ा परेशान हुआ क्योंकि वो सिर्फ सोते नहीं वो घर्राता भी और बुजुर्ग आदमी है पंचायत का प्रमुख है तो आगे बैठता है और आगे घुर्राता है उससे पुरोहित को बड़ी अड़चन होती बोलने में भी अड़चन होती और अभद्र भी मालूम पड़ता है इससे वो कुछ कह भी नहीं सकता उसका लड़के का लड़का नाती भी साथ आता है तो पुरोहित ने तरकीब निकाली पुरोहित तो तरकीब निकालने वाले लोग हैं उनसे ज्यादा चालाक आदमी नहीं क्योंकि उनका धंधा ही चालाकी का है बड़ा सूक्ष्म धंधा है उसमें चालाकी होगी ही तो उसने बगल में सभा के बाद लड़के को बुलाया और कहा देख तुझे मैं चार आने दूंगा जब भी तेरे दादा को नींद लग जाए तो तू जरा हिला के जगा दिया कर लड़के ने कहा ठीक दो तीन सप्ताह तो सब ठीक चला चौथे सप्ताह लड़का बिल्कुल शांत बैठा रहा और बूढ़ा गुर्राने लगा फिर पुरोहित ने उसे बुलाया कि क्यों भाई मैं तुझे हर चार आने देता हूं उसने कहा वो आप देते लेकिन मेरे दादा मुझे आठ आना देने का तो अगर बीच में बाधा नहीं देगा तो आठ आना दूंगा वो तो अब मैं क्या कर सकता हूं मंदिरों में मस्जिदों में चर्चों में लोग सो रहे हैं ध्यान रखना कि अगर नींद पूरी ना होगी तो ध्यान तुम कर ही ना सकोगे नींद एक जरूरत है नींद कोई पाप नहीं नींद कुछ बुराई नहीं है कोई अपराध नहीं है पूरी नींद कर लोगे तभी तुम ध्यान कर पाओगे क्योंकि ध्यान भी बड़ी विश्राम की अवस्था है अगर तुम नींद में पूरे न गए तो जैसे तुम शांत बैठोगे वैसे ही नींद लग जाएगी क्योंकि जरूरत शरीर की पहले पूरी होती इसे ध्यान रखना शरीर की जरूरत पहले आत्मा की जरूरत बाद में और शरीर की जरूरत जिसने पूरी नहीं की उसकी आत्मा की जरूरत कभी भी वो पूरी नहीं कर पाएगा इसलिए तो हम कहते हैं भूखे भजन ना हो को पाला भूख लगी हो तो भजन कैसे करोगे भूख ही भजन में गूंजती रहेगी पेट भरा हो तो ही भजन हो सकता इसका यह मतलब भी नहीं कि पेट बहुत भरा हो बहुत भरा हो तो भी भजन नहीं हो सकता एक सम्यक अवस्था चाहिए शरीर की न तो बहुत भोजन न बहुत कम न बहुत ज्यादा नींद न बहुत कम न बहुत ज्यादा श्रम न बहुत कम और हर व्यक्ति को अपना सूत्र खुद ही खोजना पड़ता है क्योंकि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है इसलिए दुनिया में कोई तुम्हारे लिए नियम नहीं बना सकता लेकिन अक्सर ये भ्रांति होती ये भी तुम समझ लेना कि मिताचारी होने का यह भी अर्थ है कि तुम दूसरे के लिए नियम बनाने की कोशिश मत करना क्योंकि जो तुम्हारे लिए नियम है वो दूसरे के लिए घातक फंदा हो सकता है शास्त्र अक्सर हिंदू शास्त्र बूढ़ों ने लिखे बूढ़ों की नींद कम हो जाती शरीर की जरूरत खत्म हो जाती तो बूढ़े अक्सर चाहे वो ज्ञानी ना भी हो तो भी तीन बजे के करीब जग जाते पड़े रहे बात अलग जब बूढ़े शास्त्र बनाएंगे तो वो लिखेंगे कि तीन बजे उठना नियम लेकिन ये शास्त्र बच्चों के काम में नहीं लाया जा सकता क्योंकि मां के पेट में बच्चा 24 घंटे सोता है उसकी जरूरत उतनी है जब शरीर में इतना काम हो रहा है सृजन हो रहा है हर चीज बन रही तो बच्चे के जागने से बाधा पड़ जाएगी वो सोया रहता है शरीर में सृजन का काम चल रहा है बच्चे की बीच में आने की जरूरत नहीं वो 24 घंटे सोता है माँ के पेट में फिर पैदा होने के बाद 18 घंटे सोता है फिर 16 घंटे सोता है फिर धीरे धीरे जरूरत कम होती जाती जैसे जैसे बच्चे का शरीर पूरा हो जाता है सृजन का काम बंद हो जाता है आठ घंटे के करीब सात आठ घंटे के करीब ठहर जाती बात फिर पैंतीस साल के बाद शरीर में दूसरी क्रिया शुरू होती टूटने की जब टूटने की क्रिया शुरू होती तो नींद कम होने लगती क्योंकि जब नींद कम होगी तभी शरीर टूट सकता है नहीं तो टूट नहीं सकता जैसे कि बच्चे के शरीर के बनने में नींद की जरूरत है बूढ़े के शरीर के टूटने में नींद की बिल्कुल जरूरत नहीं नहीं तो बूढ़ा मरेगा ही नहीं तो नींद कम होने लगेगी नींद के कम होने का मतलब है कि शरीर में अब बनने का काम बंद हो गया हिंदुओं के शास्त्र बूढ़ों ने लिखे तो बूढ़े अपने हिसाब से लिखते अगर दो माह का बच्चा शास्त्र लिख सके तो वो लिखेगा कि बीस घंटे सोना नियम जवान अगर लिखेगा तो सात आठ घंटे सोना नियम है बूढ़ा अगर लिखेगा तो तीन चार घंटे काफी है फिर एक एक व्यक्ति में भेद है तुम भोजन अलग अलग ढंग का करते हो अब जो मांसाहारी है वो थोड़ा ज्यादा सोएगा जो शाकाहारी है वो थोड़ा कम सोएगा क्योंकि मांस को पचाने के लिए शरीर को ज़्यादा श्रम करना पड़ता है साग सब्जी को पचाने के लिए उस तरह का श्रम नहीं करना पड़ता इसलिए शाकाहारी कम सोएगा जो मजदूर है वो ज़्यादा सोएगा क्योंकि दिन में इतना श्रम किया है कि शरीर के बहुत से सेल टूट गए उनको पूरा करने के लिए उसे गहरी नींद जरूरी जो करोड़पति है उसको सोने के लिए ट्रैंकुलाइजर लेना पड़ेगा क्योंकि उसने कोई श्रम किया नहीं कुछ टूटा नहीं जब कुछ टूटा नहीं तो बनने का सवाल नहीं इसलिए नींद की कोई जरूरत नहीं है उसकी तो रात करवटें बदलेगा करवटें बदलना असल में शरीर की तरकीब है नींद में श्रम करने की करवट बदलने का इतना मतलब है कि कुछ भी नहीं किया तो कम से कम करवट तो बदलो तो थोड़ा श्रम हो जाए थोड़ा श्रम हो जाए तो थोड़ी नींद लग जाए अगर तुमने बौद्धिक श्रम किया है दिन में तो नींद कठिन हो जाएगी अगर शारीरिक श्रम किया है तो नींद बड़ी सुगम होगी फिर हर आदमी पे अपनी अपनी इसलिए किसी शास्त्र के नियम में मत पड़ना क्योंकि जिसने नियम बनाया था वो तुम नहीं हो जिसने नियम बनाया था वो अपने लिए होगा उसके लिए ठीक रहा होगा दुनिया में हजारों अड़चने कम हो जाएं अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन की सहजता को खोज के नियम बनाने लगे मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि पुरुष अगर पांच बजे उठ जाए तो कोई हर्जा नहीं उनकी नींद पांच बजे पूरी हो जाती लेकिन स्त्रियों की नींद कोई साढ़े छह बजे पूरी होती या सात बजे पूरी होती लेकिन नियम यह है कि पत्नी को पहले उठना चाहिए नहीं तो पति नाराज होगा वैज्ञानिकों ने बहुत खोज की है नींद पर 24 घंटे में दो घंटे शरीर का तापमान नीचे गिरता है वो ही दो घंटे गहरी नींद के घंटे हैं पुरुषों का तापमान गिरता है कोई तीन और पांच के बीच में स्त्रियों का तापमान गिरता है कोई छह और आठ के बीच में वो गहरे से गहरे नींद के क्षण है अगर वो दो घंटे तुमने सो लिए तो तुम ताजा अनुभव करोगे अगर उन दो घंटों में व्याघात पड़ गया तो तुम दिन भर परेशान अनुभव करोगे तो अगर हम वैज्ञानिक की सलाह माने तो सुबह की चाय पति को बनानी चाहिए पत्नी को बिल्कुल नहीं उसे सो रहना चाहिए बिस्तर पर पति को लाना चाहिए चाय बना के अगर वैज्ञानिक की हम बात सुने क्योंकि स्त्रियों का शरीर का ढंग और है पुरुष के शरीर का ढंग और है उनके हार्मोन अलग है उनके शरीर की भीतरी बनावट और है और उसके अनुसार सारी जीवन व्यवस्था होनी चाहिए मिताचार का अर्थ है कि तुम थोड़े से नियम बनाना और नियम भी उधार मत लेना और कठिन नहीं है अगर तुम थोड़े से प्रयोग करो कितना कठिन है अगर तुम एक तीन सप्ताह प्रयोग करके देख लो सब तरह से उठ के तीन बजे उठ के देख लो दो दिन चार बजे उठ के देख लो दो दिन पांच बजे उठ के देख लो छह बजे सात बजे आठ बजे एक तीन सप्ताह प्रयोग करके देख लो जो घड़ी तुम्हें सबसे ज्यादा जम जाए जिसमें तुम रम जाओ जिसमें 24 घंटे तुम ताजा मालूम पड़ो वही तुम्हारे लिए नियम है कुछ लोग हैं जो रात में 12 बजे सोए तो ही सुबह उनको ताजगी रहेगी कुछ हैं जो 9 बजे सोए तो ही सुबह ताजगी रहेगी और कोई किसी के लिए नियम नहीं बना सकता प्रत्येक व्यक्ति अनूठा और अलग अलग है अपना नियम खोजना है और अपने नियम को ठीक से समझ के अनुसार चलने पर तुम पाओगे तुम्हारे जीवन में बड़ी सहजता और स्वाभाविकता आ जाती अड़चन कम हो जाती दूसरे का नियम हमेशा अड़चन देगा जैसे विनोबा के आश्रम में विनोबा तीन बजे उठते हैं तो सबको तीन बजे उठना चाहिए अभी अड़चन की बात है विनोबा बूढ़े आदमी है उनकी जरूरत होगी तो वो नौ बजे सो जाते हैं लेकिन नौ बजे दूसरों को नींद ही नहीं आती वो पड़े हैं लेकिन नौ बजे नियम है आश्रम का तो नौ बजे सो जाना है फिर तीन बजे उठाना है फिर दिन भर बेचैनी फिर बेचैनी से इरिटेशन फिर बेचैनी से हर छोटी छोटी बात में क्रोध है इसलिए तुम साधु संतों को बड़ा क्रोध ही पाओगे उनके भीतर जीवन ऊर्जा सम्यक नहीं है इसलिए हर छोटी चीज परेशान करेगी हर छोटी चीज पर नाराजगी आएगी नाराजगी का कारण भीतर है कि तुम बेचैन हो न ठीक भोजन कर रहे हो न ठीक सो रहे हो न ठीक श्रम कर रहे हो तुम्हारी अड़चन स्वाभाविक है अपना नियम खोज लेना आने देना अनुशासन को भीतर से इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ विवेक सिखाता हूं कि तुम होश पूर्वक अपने को समझने की कोशिश करो दुनिया में कोई तुम्हारा मालिक नहीं और किसी ने तुम्हारे लिए आखिरी नियम नहीं लिख दिए तुम्हारा धर्मशास्त्र तुम्हारे शरीर और तुम्हारे मन में छिपा है तुम उसे पढ़ना सीखो और वहीं से अगर तुमने आदेश लिया तो तुम पाओगे कि तुम शांत होते चले जाते हो जितने तुम शांत होते हो उतने आनंद की क्षमता बढ़ती और तब तुम यह भी पाओगे कि बहुत नियम की जरूरत नहीं है बड़े छोटे से नियम जिनको नियम कहना भी ठीक नहीं है तुम्हारे जीवन को रूपांतरित कर देंगे मानवीय कारोबार की व्यवस्था में मिताचारी होने से बढ़िया दूसरा नियम नहीं है अगर लाओ से तुम पूछो कि तुम्हारे जीवन का नियम क्या है तो लाओ से कहता है जब मुझे नींद आती मैं सो जाता जब मुझे भूख लगती तब मैं भोजन कर लेता जब नींद खुल जाती तब जग जाता बस ऐसे नियम है और कोई नियम नहीं और लाओ से परम अवस्था को उपलब्ध हुआ फिर नियम भी सख्त नहीं हो सकते लोचपूर्ण होंगे क्योंकि तुम्हारी जरूरत रोज बदलेगी जो नियम तुमने जवानी में बनाया वो बुढ़ापे में काम ना आएगा जो आज बनाया कल काम ना आएगा इसलिए तुम नियम को भी सख्त मत बना लेना अपना भी बनाया हुआ नियम सख्त नहीं होना चाहिए अगर सख्त हुआ तो तुम जाल में पड़ जाओगे क्योंकि तुम्हारी शरीर की जरूरत रोज बदलेगी आवश्यकता के अनुसार तुम जागते हुए बदलते जाना नियम लोचपूर्ण चाहिए तुम नियम के लिए नहीं हो नियम तुम्हारे लिए नियम तुम्हें व्यवस्था देने के लिए है तुम यहां इसलिए नहीं हो कि कुछ नियमों को तुम अपने में व्यवस्था दो मिताचार पूर्व निवारण करना है और जिस व्यक्ति के जीवन में लोचपूर्ण कम से कम अपरिहार्य नियम होंगे अपने ही खोजे हुए वो व्यक्ति पूर्व निवारण कर लेता है उसकी हजारों मुसीबतें आती ही नहीं पहले तो मुसीबत को बुलाना और फिर निवारण करना ना समझिए मुसीबत तो पहले ही रोकी जा सकती है मुसीबत का तो पूर्व निवारण हो सकता है लेकिन बड़ा होश चाहिए तब बड़ी सजगता चाहिए तुमने भी कई बार अनुभव किया है कि क्रोध तुम करते हो पीछे पछताते हो दुखी होते हो निर्णय लेते हो नहीं करूंगा क्रोध लेकिन फिर क्रोध हो जाता है क्या कारण होगा तुम पूर्व निवारण नहीं कर पा रहे हो बीमारी जब आ जाती तब तुम उसे हटाते हो तब तक तो बीमारी ने जड़ें जमा ली क्रोध कोई अकेली घटना नहीं है मल्टी काजल है उसके बहुत कारण है एक आदमी ने तुम्हें गाली दी तुम ये मत समझना कि बस यही कारण है क्रोध का तुम अगर ठीक से न सोए तो वो भी कारण बनेगा क्रोध का तुम्हें अगर ठीक से भोजन न मिला तो वो भी कारण बनेगा क्रोध का तुम्हारे जीवन में अगर प्रेम की धारा न बही तो तुम हर घड़ी राजी हो क्रोधित होने के लिए ये आदमी की गाली देना तो सिर्फ बहाना है ये सब चीजें तुम्हारे भीतर तैयार है बारूद तैयार है ये आदमी तो सिर्फ एक अधजली सिगरेट फेंक देता है विस्फोट हो जाता तुम समझते हो ये आदमी बम फेंक दिया इस आदमी ने कुछ भी नहीं किया है इस आदमी का कोई संबंध ही नहीं है तुम अगर भीतर शांत हो तो ये सिगरेट उस शांति के जल में जाके बुझ जाती पता भी ना चलता तुम भीतर अशांत थे बारूद मौजूद थी सूखी बारूद लिए घूम रहे हो और तुम सोचते हो कोई दूसरा तुम्हें क्रोधित करवा रहा है फिर तुम कसमें खाते हो व्रत नियम लेते हो कि मैं क्रोध ना करूंगा तुम और दूसरा पागलपन कर रहे हो क्योंकि जब बारूद भीतर मौजूद है तुम कैसे क्रोध ना करोगे वैसी झंझट थी अब दुगनी हो गई अब तुम इस बारूद को दबाए फिर रहे हो अब यह विस्फोट भयंकर होगा जिस दिन फूटेगा उस दिन तुम बचोगे ही नहीं तुम किसी की हत्या करोगे या आत्महत्या करोगे पुरुष ज्यादा आत्महत्याएं करते हैं इससे तुम्हें जान के हैरानी होगी स्त्रियां कोशिश करती हैं ज्यादा लेकिन सफल नहीं होती स्त्रियों का काम धंधा ही ऐसा है सौ स्त्रियां आत्महत्या की कोशिश करती हैं तो मुश्किल से बीस सफल होती उनकी कोशिश भी अधूरी अधूरी है वो कोशिश के कारण दूसरे हैं वो ठीक मरना नहीं चाहती अगर सौ पुरुष आत्महत्या की कोशिश करते हैं तो पचास सफल होते स्त्रियां कोशिश ज्यादा करती हैं इसलिए तुम्हें यह भ्रांति होगी कि स्त्रियां बहुत आत्महत्या करती नहीं आत्महत्या पुरुष ज्यादा करते हैं दो गुनी ज्यादा स्त्रियों से दुगनी आत्महत्या करते हैं और कारण क्या है कारण यह है कि स्त्रियां अपने क्रोध को निकाल लेती बर्तन तोड़ देंगी प्लेट पटक देंगी बच्चे की पिटाई कर देंगी निकाल लेती रो लेंगी चीख चिल्ला लेंगी कपड़े फाड़ लेंगी सिर के बाल खींच लेंगी आत्महत्या के लायक क्रोध इकट्ठा नहीं हो पाता और पुरुष अकड़ा हुआ रहता है रो कैसे सकता है मर्द कहीं रोता है अब मर्द नहीं रोता तो भगवान ने मर्द की आंखों में आंसू की ग्रंथि क्यों बनाई तो भगवान ने कुछ गलती की उतनी बड़ी ग्रंथि आदमी की आंखों में है जितनी स्त्री उसमें उतने ही आंसू भरे वो निकलने चाहिए लेकिन मर्द रो नहीं सकता छोटे छोटे बच्चों को हम सिखलाते हैं क्या रो रहा है लड़कियों जैसा व्यवहार कर रहा है आंख लड़के और लड़की के में कोई फर्क नहीं है और रोना एक निकास है और जो रो नहीं सकता वो ठीक से हंस भी नहीं सकता क्योंकि हंसी में भी आंसू निकल आते हैं रोना और हंसी दोनों तरफ से एक ही दिशा में यात्रा करते तो पुरुष ना तो हंसता है ठीक से न रोता है ठीक से न क्रोध करता है अकड़ में बना रहता है तो इतना इकट्ठा हो जाता है मवाद कि जब फूटता है तो या तो हत्या करता है या आत्महत्या करता है अगर दुर्जन हुआ तो हत्या करता है सज्जन हुआ तो आत्महत्या करता है बस इतनी फर्क है दोनों ही हत्या करते हैं दुर्जन दूसरे को मिटाता है सज्जन अपने को मिटाता है लेकिन मिटाने में दोनों एक जैसे जो व्यक्ति क्रोध से पीड़ित हो उसको पूर्व निवारण करना चाहिए और अपने पूरी जीवन स्थिति को समझना चाहिए कि मैं बारूद कैसे इकट्ठी कर रहा हूं और बारूद को सूखा रखा हुआ हूं मैं खतरा लेके घूम रहा हूं जैसे पेट्रोल की टंकी पे लिखा रहता है इनफ्लेमेबल ऐसी सबकी खोपड़ी पर लिखा रहना चाहिए इनफ्लेमेबल जरा कोई ना माचिस जलाएगी झंझट खड़ी हो जाएगी लाओस से कहता है जिसने जीवन को समझने की कोशिश की और जीवन के छोटे छोटे नियम जो सहजता से आने चाहिए शास्त्रों से नहीं वो पूर्व निवारण कर लेता है मिताचार पूर्व निवारण करना है to be sparing is to forestall पहले से ही तुम काट देते हो वो जड़ें ठीक से सो सम्यक निद्रा जरूरी है ठीक से भोजन करो सम्यक भोजन जरूरी है होश पूर्वक उठो बैठो चलो होश जरूरी है स्वाभाविक बनो अस्वाभाविक की आकांक्षा मत करो जरूरतों को पूरा करो वासनाओं की उपेक्षा करो व्यर्थ की दौड़ में मत लगो सार्थक को ही बस पा लेना काफी है शक्ति को बचाओ अकारण खर्च मत करो जितनी शक्ति तुम्हारे पास संग्रहित होगी जितने तुम शक्तिशाली होगे उतना ही कम क्रोध होगा जितने तुम शक्तिशाली होगे उतना ही दूसरे लोग तुम्हें कम उत्तेजित कर सकेंगे तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारा कवच पूर्व निवारण करना तैयार रहने और सुदृढ़ होने जैसा है तैयार रहना और सुदृढ़ होना सदाजयी होना है और जो आदमी पूर्व निवारण कर लेता अपनी बीमारियों का जो अपने भीतर एक शांति का स्थल बना लेता है एक छोटा सा मंदिर बना लेता है जहां सब शांत और मौन है जहां बड़ी गहन तृप्ति है परितोष है उसे तुम उज्जवलित नहीं कर सकते उसे तुम पराजित नहीं कर सकते तुम उसे हराओगे कैसे क्योंकि वो जीत की आकांक्षा ही नहीं करता तुम उसे मिटाओगे कैसे क्योंकि उसने खुद ही अपने को मिटा दिया है उसके जीवन में कोई असफलता नहीं हो सकती क्योंकि सफलता की कामना और वासना को उसने उपेक्षा कर दी है सफलता को खाओगे या पियोगे या पहनोगे जीवन तो बहुत छोटी छोटी चीजों से भर जाता है रोटी चाहिए कपड़ा चाहिए प्रेम चाहिए एक छप्पर चाहिए जीवन किसी बहुत बड़ी बड़ी आकांक्षा के कारण सुखी नहीं होता नहीं तो पक्षी कभी सुखी नहीं हो सकते थे पौधे कभी फूल नहीं दे सकते थे क्योंकि पौधे राष्ट्रपति कैसे बनेंगे पक्षी प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे सारा अस्तित्व प्रसन्न है क्योंकि थोड़े से राजी जरूरत से राजी है सिर्फ आदमी बेचैन अकेला आदमी पागल है अकेला आदमी भटक गया है जरूरत की तो फिक्र ही नहीं है गैर जरूरत की फिक्र है पेट भरे ना भरे गले में सोने का हार चाहिए नींद मिले या ना मिले सिर पे ताज चाहिए प्यास बुझे ना बुझे वासना व्यर्थ की दौड़ का नाम वासना है कि जिसको पा भी लोगे तो कुछ पाया नहीं न पाए तो परेशान हुए पा लिए तो पाया कि हाथ खाली है वासना दुष्पुर है उसको कभी कोई नहीं भर पाता दौड़ना बहुत होता उसमें पहुंचना कभी भी नहीं होता तो लाश से कहता है जिसने पूर्व निवारण कर लिया जो अपनी छोटी छोटी जरूरतों में राजी हो गया और तुम सोच भी नहीं सकते क्योंकि इतनी वासनाएं मन को पकड़े अन्यथा तुम इतने अनुग्रहित हो जाओगे परमात्मा के श्वास भी तुम्हारी इतनी शांत और आनंदपूर्ण हो जाएगी उठने बैठने में एक नृत्य भीतर चलने लगेगा बोलने में चुप रहने में एक संगीत बजने लगेगा जो पक्षियों को उपलब्ध है वो तुम्हें उपलब्ध नहीं हो पाता ये हैरानी की बात है तुम पक्षियों से श्रेष्ठ हो तुम पौधों से बहुत आगे जा चुके हो तुम शिखर हो इस पूरे अस्तित्व के और तुमसे ज्यादा दीन कोई नहीं दिखाई पड़ता तुम्हारे जीवन में कभी फूल लगते ही नहीं संगीत कभी लगता ही नहीं कभी तुम नाचने की घड़ी में आ ही नहीं पाते तुम कभी मदमस्त नहीं हो पाते जबकि पूरी मधुशाला खुली है अस्तित्व की कि तुम पी लो पूरी मधुशाला कबीर कहते हैं सूरत कलारी भई मतवारी मधवा पी गई बिन तोले कबीर कहते हैं कि मैं तो अब बिन तोले सारी मधुशाला को पी गया तोलना भी क्या अनंत उपलब्ध है तौल के भी क्या करोगे बिना तौले पी जाओ लेकिन नहीं पी पाओगे क्योंकि तुम जरूरत को तो काट रहे हो और गैर जरूरत को सिर पर रखे ढो रहे हो हम अपनी जरूरतों को महत्वाकांक्षा के लिए काटते चले जाते हैं हम कहते हैं कल महत्वाकांक्षा पूरी हो जाएगी तब सब ठीक हो जाएगा तुमने एक दुकानदार को भोजन करते देखा है भागा भागा भोजन करता है उसकी हालत देखो तुम भागा भागा किसी तरह भोजन कर रहा है दुकान पे पहुंच ही चुका है असली में शरीर ही यहां है आत्मा तो दुकान पर है स्वाद का रहस्य इसे पता ही ना चल पाएगा हिंदुओं ने अन्न को ब्रह्म कहा है जिन्होंने अन्न को ब्रह्म कहा है उन्होंने जरूर स्वाद लिया होगा उन्होंने तुम जैसे ही भोजन न किया होगा वो बड़े होशियार लोग रहे होंगे बड़े कुशल रहे होंगे कोई गहरी कला उन्हें आती थी कि रोटी में उन्होंने ब्रह्म को देख लिया दुनिया में किसी ने भी नहीं कहा है अन्नम ब्रह्म कैसे लोग थे रोटी में ब्रह्म जरूर उन्होंने रोटी कुछ और ढंग से खाई होगी उन्होंने भोजन को ध्यान बना लिया हो वे भागे भागे नहीं थे वे जब भोजन कर रहे थे तो भोजन ही कर रहे थे उनकी पूरी प्राण ऊर्जा भोजन में लीन थी और तब जरूर रूखी रोटी में भी वो रस है जिसको ब्रह्म कहा है तुम्हें भोजन करना आना चाहिए इसलिए मैं कहता हूं कि जब अन्न में ब्रह्म है तो निद्रा में भी है उसे लेना आना चाहिए तुम अगर ठीक से सोना जान जाओ जहां सपने खो जाएं क्योंकि सपने का अर्थ तुम्हें सोना नहीं आता तुम आधे आधे सो रहे हो सपने का अर्थ है कुछ जागे हो कुछ सोए हो इसलिए तो बेचैनी है जब सपना रहित नींद हो जाती तब नींद में भी ब्रह्म है तब तुम पाओगे कि श्वास श्वास में उसी का बास है तब तुम पाओगे वही श्वास से भीतर आता वही श्वास से बाहर जाता तब हर तरफ तुम्हें उसकी ही झलक मिलेगी घट घट मेरा साइया सब सांसों की सांस में कोई परमात्मा दूर नहीं है तुम जरा पास आ जाओ अपने तुम बहुत दूर भागे हुए फिर रहे हो इसको लाभ से कहता है कि जैसे ही कोई मिताचार को उपलब्ध होता पूर्व निवारण करता तैयार हो जाता सुदृढ़ हो जाता सदा जयी हो जाता उसकी विजय शाश्वत है फिर उसे कोई हरा नहीं सकता उसने ब्रह्म को पा लिया अब उसकी कोई हार संभव नहीं है हार तो वहां होती है तुमने कोई ऐसी चीज पाली जो संसार की है तो तुम हारोगे क्योंकि वो तुमसे छीनी जाएगी आज नहीं कल तुम उसे खोओगे कुछ ऐसी चीज खोज लो जिसे चोर चुरा ना पाए जिसे आग जलाए नहीं जिसे मृत्यु छीन ना सके फिर तुम सदा जयी हो सदा जयी होना अशेष क्षमता प्राप्त करना है और जो सदा जयी हो जाता है ऐसे सदा जयियों को हमने जिन कहा है महावीर कहा है जीत लिया जिन्होंने क्या जीत लिया उन्होंने स्वयं को जीत लिया दो तरह की जय एक तो दूसरों को जीतना उसे मैं राजनीति कहता हूं लाओस से भी राजनीति कहता है और एक स्वयं को जीतना उसे धर्म कहते हैं जब तक तुम दूसरों को जीतने में लगे हो तब तक तुम विक्षिप्त ही रहोगे जिस दिन तुम अपने को जीतने में लगोगे उसी दिन तुम यात्रा पर ठीक यात्रा शुरू हुई यात्रा पथ पर आए जो व्यक्ति अपने को जीत लेता है वो अशेष क्षमता को प्राप्त होता है समझ लेने जैसा है उसकी क्षमता कभी भी चुकती नहीं उसके जीवन की क्षमता अशेष है कितना भी जिए क्षमता कायम रहती जैसा उपनिषद कहते हैं निकाल लो पूर्ण को पूर्ण से तो भी पीछे पूर्ण शेष रह जाता ऐसी उसकी क्षमता होती वो कितना ही जिए चुकता नहीं जितना जीता है उतना ही पाता है कि जीने के लिए और तत्पर हो गया तुम चाहते तो हो कि तुम्हें और जीवन मिले लेकिन तुमने कभी ठीक से सोचा नहीं कि तुम और जीवन लेके करोगे भी क्या तुम वैसे ही थक गए हो कभी विचार करके सोचना कि और जीवन लेके करोगे क्या एक ही जीवन काफी थका देता है क्षमता कुछ बचती ही नहीं खोखले हो जाते हो दौड़ दौड़ के वासना के पीछे जैसे ही व्यक्ति दौड़ बंद कर देता है अपने में ठहरता है ऊर्जा नष्ट नहीं होती सब छिद्र बंद हो जाते सब द्वार बंद हो जाते ऊर्जा की एक विराट लपट उसके भीतर उठती उसके पास अनंत ऊर्जा होती महावीर ने कहा है वो अनंत वीरी हो जाता है उसकी क्षमता अशेष है वो जीता जाता है बांटता जाता है देता जाता है कभी चुकता नहीं वो जितना देता है उतना ही और पाता है वो जितना उलिझता है उतना ही पाता है कि और भर गया है और जब तक तुम ऐसी अशेष क्षमता के धनी ना हो जाओ तब तक तुम दीन ही रहोगे जब तुम ऐसी अशेष क्षमता के धनी हो जाओगे तभी तुम सम्राट हुए इसलिए हमने फकीरों को सम्राट कहा है हमने ऐसे सम्राट जाने जो फकीर थे भिखारी थे बुद्ध महावीर और हमारे सम्राट निश्चित ही फकीर है भिकमंगे सम्राट मानते चले जाते हैं मान का कोई अंत नहीं फकीर देते चले जाते हैं देने का कोई अंत नहीं सम्राट की आत्मा भिखारी की आत्मा है फकीर की आत्मा सम्राट की आत्मा है क्योंकि जब तुम मांगते हो तब तुम भिकमंगे हो जब तुम देते हो तभी पहली बार तुम्हारे सुर परमात्मा से बंधे तुम्हारा झरना उसके अनंत झरने से जुड़ गया अब कोई चुका ना सकेगा लाश से कहता है जिसमें अशेष क्षमता है वही किसी देश का शासन करने के योग्य तो जो लोग शासन करते हैं देशों में उनमें से तो कोई भी योग्य नहीं हो सकता लाओस से कहता है कि सिर्फ संत ही शासन करने के योग्य है वही व्यक्ति शासन करने के योग्य है जो शासन करना ही नहीं चाहता जिसकी शासन करने की कोई आकांक्षा नहीं वही योग्य है जो शासन करना चाहता है उसकी करने की चाह में ही अयोग्यता छिपी है मनस्विद भी राजी हैं लाओसे से वो कहते हैं जो व्यक्ति शासन करना चाहता है वो हीनता की ग्रंथि से पीड़ित उसके भीतर हीन भाव है पद पर खड़े होकर वो दुनिया को बताना चाहता है कि मैं हीन नहीं हूं देखो कैसे सिंहासन पर खड़ा हूं इसलिए लंगड़े लूले अंधे काने सब दिल्ली की तरफ जाते जाएंगे ही क्योंकि उनके पास और कोई उपाय नहीं घोषणा करने का तुम राजनीतिक को कभी साबित ना पाओगे कहीं ना कहीं कानापन कहीं ना कहीं तिरछापन कहीं ना कहीं कोई कमी कोई भीतरी अभाव होगा कोई हीनता की ग्रंथि होगी उस हीनता की ग्रंथि को दिखाने के लिए कि वो नहीं है वो बड़े आयोजन रचता है लेकिन कितना ही आयोजन करो हीनता की ग्रंथि मिटती नहीं हिंता की ग्रंथि का मिटने का यह उपाय नहीं हिंता की ग्रंथि तो तभी मिटती जब तुम अशेष क्षमता के धनी हो जाते जिसमें अशेष क्षमता है वही किसी देश का शासन करने के योग्य है और ऐसा जब कोई शासक उपलब्ध हो जाए किसी देश को तो उस देश की जो मातृत्व की क्षमता है उस देश की जो प्रेम की क्षमता है प्रेम जो कि जीवन का गहरे से गहरा सिद्धांत है आधार है उसमें फूल आने शुरू होते हैं वो विकसित होता है वो सुरक्षित होता है और शासक देश की माता सिद्धांत दीर्घ जीवी हो सकती तभी वस्तुतः एक परिवार बनता है समाज का प्रेम के आधार पर अन्यथा समाज एक भीड़ है और उस भीड़ को किसी तरह व्यवस्थित रखने की ही कोशिश में शासन व्यस्त रहता है किसी तरह व्यवस्थित करने की कोशिश में कि भीड़ कोई उपद्रव ना करे बस भीड़ को किसी तरह शांत रखा जा सके इतनी ही शासन की कुल चेष्टा बनी रहती लेकिन जब कभी कोई संत शासक हो जाए कभी कभी वैसा हुआ है और अगर बड़े पैमाने पर नहीं हुआ तो छोटे पैमाने पर तो बहुत बार हुआ है बुद्ध या महावीर या लाओस से एक दूसरा ही छोटा समाज समाज के भीतर निर्मित कर लेते बुद्ध के दस हजार भिक्षु हैं बुद्ध ने एक छोटा सा समाज निर्मित कर लिया इनका इस समाज की हवा और है अजात शत्रु बड़ा शासक था बुद्ध के समय में उसके आमात्यों ने कहा कि बुद्ध का आगमन हुआ है आप भी चलें आमात्यों को प्रजा को प्रसन्न करने के लिए वो गया जाने की कोई इच्छा न थी लेकिन लोग समझेंगे अच्छा राजा है साधु का सम्मान किया तो वो गया जब वे करीब पहुंचे उस आम्रवन के जहां बुद्ध ठहरे थे तो वो ठिटक के खड़ा हो गया और उसने अपनी तलवार से म्यान निकाल ली और उसने अपने मंत्रियों को कहा कि क्या तुम मुझे कुछ षडयंत्र में डाल रहे हो तुम कहते थे दस हजार भिक्षु बुद्ध के साथ जहां दस हजार आदमी हो वहां बाजार मच जाता है और यहां तो सन्नाटा है यहां तो ऐसा नहीं है कि एक भी आदमी हो इस आम्रवन के भीतर तुम चाहते हो क्या हो तुम मुझे कहीं धोखे में ले जाके कोई खतरा करना चाहते वे आमात्य हंसने लगे उन्होंने कहा आप बुद्ध के परिवार को जानते नहीं आप तलवार भीतर रख लें और निशंक हो जाएं जल्दी ही इन झाड़ों के पार आपको खुद ही दिखाई पड़ जाएगा जैसे उन झाड़ों की पंक्ति को अजात शत्रु पार हुआ वो चकित हुआ वहां दस हजार लोग थे उसने बुद्ध से पूछा कि मेरी समझ में नहीं आता ये किस तरह के लोग हैं क्योंकि दस हजार आदमी जाओ वहां तो उपद्रव हो नहीं वहां तो हमें पुलिस का और इसका इंतजाम करना पड़ता है सबके कैसे लोग शांत रहें और ये दस हजार लोग बिना किसी व्यवस्था के और बिना किसी शासन के क्यों शांत हैं इनको क्या हो गया है बुद्ध ने कहा ये और ही तरह का परिवार है इससे तुम अपरिचित हो तो कभी कभी बुद्धों के करीब छोटे छोटे समाज निर्मित हुए वे समाज इस पृथ्वी पर किसी दूसरे ही लोक के प्रतिनिधि हैं बुद्ध का शासन है उन पर जो शासन नहीं करना चाहता और वे शासित नहीं है जो उनके आसपास इकट्ठे क्योंकि उन्होंने खुद ही समर्पण किया है वे हराए नहीं गए वे हारे जब तुम किसी को हराते हो तब घृणा पैदा होती और जब तुम खुद ही हार जाते हो तो प्रेम का जन्म होता है वे समर्पित उन्होंने खुद ही अपने को बुद्धों के चरणों बुद्ध के चरणों में डाल दिया एक दूसरे ही तरह की गंध वहां है शांति की आनंद की ऐसे छोटे छोटे परिवार दुनिया में बने हैं कभी यह भी हो सकता है कि सारी दुनिया का ऐसा पूरा परिवार बने क्योंकि जो दस हजार के लिए संभव है वो दस लाख के लिए संभव जो दस लाख के लिए संभव हो दस करोड़ के लिए भी संभव हो सकता है लाओस से उसी सपने को तुम्हें दे रहा है लाओस से कह रहा है पृथ्वी तभी शांत होगी जब हम यहां एक गुणात्मक रूप से भिन्न तरह का परिवार बना सकेंगे जिसमें कम से कम नियम होगा अधिक से अधिक प्रेम होगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता होगी ना के बराबर परतंत्रता होगी जिसमें निषेध ना होंगे विधेय होंगे जिसमें लोगों पर कुछ थोपा ना जाएगा लोग अपनी ही अंत प्रज्ञा से संचालित होंगे जहां उनकी जीवन व्यवस्था उनके बोध से आएगी किसी के दबाव किसी के आरोपण से नहीं जहां उनका जीवन उनके अंत से बहेगा जहां उनका आचरण उनका अपना ही सजगता का हिस्सा होगा यही है ठोस आधार प्राप्त करना यही है गहरा बल पाना और यही अमरता और चिरदृष्टि का मार्ग है this is to be firmly rooted to have deep strength the road to immortality and enduring vision ऐसे तुम हो जाओ इसकी फिक्र मत करो समाज कब होगा इसकी फिक्र मत करो क्योंकि समाज तो सदा रहेगा तुम सदा नहीं रहोगे तुम आज हो कल डेरा कुछ करना पड़े कुछ कहना मुश्किल है कब बांध चलेगा बंजारा किसी भी घड़ी तुम फिक्र मत करो इसकी कि दुनिया कब बदलेगी ये कोई क्रांति का चिंतन नहीं है ये आत्म रूपांतरण का चिंतन है तुम अपने को बदल लो तुम चाहो तो अभी उस परिवार के हिस्से बन सकते हो जो इस पृथ्वी का नहीं है और तुम चाहो तो उस खुले आकाश में जी सकते हो जिसकी लाओ से बात कर रहा है इधर मैं हूं तुम्हें केवल उतना खुला आकाश देने को तुम चाहो तो उड़ सकते हो उस खुले आकाश में इसलिए मेरे पास न कोई नियम है न कोई तुमसे व्रत लेता हूं न तुम्हें कोई कस्में दिलाता हूं तुम्हें किसी परतनता में बांधने का कोई आयोजन नहीं तुम्हारी सब जंजीरें कैसे गिर जाएं और तुम्हारे पंख फिर कैसे सबल हो जाएं कि उड़ सके खुला आकाश ही काफी नहीं क्योंकि पिंजड़े में अगर बहुत दिन बंद रह गए तो पंखों की उड़ने की क्षमता चली जाती खुला आकाश चाहिए तुम्हें और तुम्हारे पंखों को फिर से सबल बनाने की जरूरत है तो तुम्हें कोई नियम नहीं देता ताकि तुम्हें खुला आकाश मिल जाए और तुम्हें ध्यान देता हूं ताकि तुम्हारे पंख सबल हो जाएं और तुम उड़ सको तुम्हें भरोसा एक बार आ जाए कि तुम उड़ सकते हो दूर आकाश की नीलिमा में एक बार उड़ के तुम्हें स्वाद आ जाए तो तुम इसी पृथ्वी पर इन्हीं साधारण जनों के बीच में अचानक असाधारण हो जाते हो और मजा यह है कि यह असाधारणता आती है तब जब तुम बिल्कुल साधारण होने को राजी होते हो साधारण होने को राज्य हो जाना इस जगत में अति असाधारण घटना है आज इतना ही